नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कैबिनेट ने अभी एक बिल पार्लियामेंट में रखा है रखने वाले हैं कि यदि डिवोर्स होता है तो वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा और हस्बैंड की इनहेरिटेड इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी हिस्सा मिलेगा आ, तो इस इसके बारे में ये वीडियो है अब वो अक्सर अमेरिका का एग्जाम्पल देता है अब वो काफी अलग है अमेरिका के डिवोर्स लो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है पर अधिकतर स्टेट में क्या है मैंने अच्छा खासा स्टडी किया है कि वहां पे दो तरह के जब मैराइटल डिस्प्यूट होते हैं डिवोर्स डिस्प्यूट होते हैं तो प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मैराइटल प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी या शेयर्ड प्रॉपर्टी और दूसरा सेपरेट प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या होता है हस्बैंड पहले तो कुछ कुछ है कि चाइल्ड कस्टडी हमेशा फीमेल को मिलती है और चाइल्ड का जो खर्चा है वो भी हस्बैंड को देना पड़ता है उल्टा बहुत कम होता है बहुत कम केस में चाइल्ड कस्टडी हस्बैंड को मिलती है और वाइफ को कभी खर्चा नहीं देना और वाइफ के पास कितना भी पैसा हो वो पैसा उसे हस्बैंड को नहीं देना होता हमेशा यही डिवोर्स के टाइम पे होते पूरी दुनिया में कि हस्बैंड का कितना पैसा वाइफ को मिलेगा तो जो common property है उसका ही बंटवारा होता है जो husband की अपनी property है उसके कोई बंटवारे की बात नहीं होती तो common property क्या होती है एक तो शादी के टाइम पे जो हस्बैंड के पास है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है सेपरेट प्रॉपर्टी यानी शादी हुई तब उसके पास एक मिलियन डॉलर था और शादी होने के दस दिन बाद तलाक होता है तो उस दस दिन में जितनी प्रॉपर्टी बढ़ी वही प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वाइफ को मिलेगा दूसरा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती और गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है मान लो हस्बैंड को उसके रिलेटिव से गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है तो वो भी काउंट नहीं होती फिर यदि कपल को गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है जैसे कि मैरिज का रिसेप्शन है और सारे गिफ्ट आए हैं तो वो शेयर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है पर हस्बैंड को शादी हुई आज और मान लो कल एक करोड़ का घर उसको फादर की ओर से मिलता है अमेरिका में तो उसका उसका वाइफ का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता क्लेम नहीं बनता अब यानी कि जितनी प्रॉपर्टी शादी के टाइम है प्लस जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है उस प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई क्लेम नहीं बनता अमेरिका के कानून के अनुसार सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऐड हुई है शादी के बाद उसी पे वाइफ का 50 परसेंट क्लेम बनता है और ये वो भी यदि शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट है प्री नपिचुअल एग्रीमेंट कहते हैं तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि प्री नपिचुअल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंडिया में प्री नपिचुअल का कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है अमेरिका में जब से ये 50 परसेंट का कंसेप्ट आया कि हस्बैंड की 50 परसेंट प्रॉपर्टी वाइफ को मिलेगी मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर मैरिज और property property acquired after marriage minus inheritable property का 50 परसेंट तभी से वहां पे प्री नेपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आ गया कि यदि हस्बैंड ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वाइफ को उतना ही पैसा मिलेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इंडिया में प्री नेपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है अब इंडिया में जो कानून बना है वो इस तरह से है कि हस्बैंड के शादी के टाइम मान लो करोड़ दो करोड़ दस करोड़ की प्रॉपर्टी है और डिवोर्स होता है कितने साल के बाद वो गारंटी नहीं एक दिन के बाद डिवोर्स होता है या पांच साल के बाद डिवोर्स होता है या तीन साल के बाद मिनिमम ड्यूरेशन क्या है जैसे अमेरिका में भी 50 परसेंट का क्लॉज कब अप्लाई होता है यदि मैरिज पांच साल चला हो तो ऐसा नहीं है कि आज शादी की और छह महीने बाद डिवोर्स हुआ तो छह महीने की इनकम का भी फिफ्टी परसेंट नहीं मिलता मैरिज के लिए मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए कुछ स्टेट में तीन साल है कुछ स्टेट में पांच साल है तो यहां पे मिनिमम ड्यूरेशन शायद पांच साल की डिसाइड करे लेकिन 50 परसेंट प्रॉपर्टी जो मिलेगी और यदि हस्बैंड डिवोर्स मांग रहा है तो दूसरे दिन से वो हो सकता है 50 परसेंट प्रॉपर्टी का क्लेम आ जाए यानी मैरिज के टाइम हस्बैंड के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका आधा हिस्सा वाइफ को मिलेगा प्लस मैरिज के बाद यदि उसको फादर से कोई प्रॉपर्टी आई है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तो उसमें भी उसको 50 परसेंट क्लेम मिलेगा इससे वकीलों को बहुत फायदा होगा वकीलों को फायदा क्या होगा कि मान लो डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स में अभी तो क्या मेंटेनेंस मिलता है मेंटेनेंस कितना होता है कभी 5000 होता है कभी 25000 भी हो सकता है तो 25000 के पर मंथ के लिए जो वाइफ है वो वकील को कितना पैसा देगी 10000 देगी 20000 देगी लाख रुपया देगी 25000 के लिए कोई 10 लाख तो देने नहीं वाला फी इसीलिए तरह से हस्बैंड अपना मेंटेनेंस अमाउंट है वो कम करना चाहता है कि 25000 का 20000 हो 20000 का 15000 हो तो वो अपने वकील को पैसा देता है तो कितना पैसा देगा कोई 5 लाख तो देगा नहीं 10 लाख तो देगा नहीं बीस हजार देगा पचास हजार देगा लेकिन अब मान लो हस्बैंड के पास करोड़ का घर है तो जो वकील खींचना चाहता है उस घर को वो पांच सात दस लाख फी मांगेगा और हस्बैंड का करोड़ रुपए का घर है तो वो उसको बचाना चाहता है तो वो भी अपने वकील को पांच सात लाख रुपए फी देगा तो इससे वकीलों की इनकम है वो बढ़ जाएगी दूसरा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बताया कि जब विदेशी किसी देश पे कब्जा करते हैं और उस देश के पॉपुलेशन को तबाह करने का प्लान बनाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई एक कानून के द्वारा यदि 100 परसेंट पॉपुलेशन को तबाह करने की कोशिश की तो हर कोई आदमी उस एक कानून के खिलाफ हो जाएगा इसलिए ऐसे 100 कानून बनाओ कि एक कानून एक परसेंट आदमी को तबाह करता है एक कानून ऐसा है कि जो कि दूसरे एक परसेंट आदमी को तबाह करता है एक कानून ऐसा है कि जिससे दो तीन परसेंट लोगों को तबाह करता है या तो 200 कानून ऐसे बनाओ कि हर एक कानून आधा आधा परसेंट लोगों को तबाह करते हैं तो इससे हरेक आदमी जो कानून उसको नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ लड़ेगा तो पूरी पॉपुलेशन है वो कानून के खिलाफ लड़ेगी लेकिन 200-300 ग्रुप में बढ़ जाएगी और हर एक एक्टिविस्ट नेता है वो भी लोगों को बांट देगा कि नहीं हमें सिर्फ इसी कानून के खिलाफ लड़ना है हमें सिर्फ इसी कानून के खिलाफ लड़ना है जैसे कि कुछ कुछ लोग हैं हिमांशु कुमार कि हमें सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ना है यानी गरीबों में उसने डिविजन करा कर दिया कि शहर में जो रहने वाले गरीब है वो अलग आदिवासी गरीब है वो अलग यानी उन दोनों की लड़ाई अलग कर दी यानी गरीबों को उसने बांट दिया तो इसी तरह से ये जो शादी का कानून है डिवोर्स का कानून है वो क्या करेगा उसके द्वारा जो जज वगैरह है वकील वगैरह है वो एक आधा परसेंट आबादी को लूटेंगे तो उस कानून के खिलाफ लड़ेगा कौन एक परसेंट लोग लड़ेंगे क्योंकि बाकी 99 परसेंट में हर एक आदमी का तो मैरिज खराब होता नहीं है हर एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि वाइफ उसके सामने इतना बड़ा केस करे तो इसमें दो तीन परसेंट लोग लूटेंगे वही दो तीन परसेंट लड़ेंगे बाकी 97 परसेंट को लूटने के लिए वो कोई और कानून बनाएंगे अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये बिल अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में भ्रष्ट मंत्रियों ने रखा है भ्रष्ट सांसद इसको पास कर भी दे बीजेपी बोल रही है कि इसका विरोध करेंगे करेंगे अब देखते हैं क्या होता है पार्लियामेंट में लेकिन हम कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं हम कार्यकर्ता भारत के 80 करोड़ नागरिक वोटर जो है उनको कन्विंस कराने की कोशिश कर सकते हैं पैम्पलेट के द्वारा, अखबार की एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा, यूट्यूब की आप इस तरह की वीडियो बना के रख सकते हो कि हम कि भारत के 80 करोड़ वोटर अपने अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि इस कानून पे ना रजिस्टर करो, ना वोट करो। इसमें पुरुष महिला का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यदि हस्बैंड लूटेगा तो हस्बैंड के साथ उसकी माता भी होती है हस्बैंड की बहन भी होती है ऐसा नहीं है कि इसमें ये मैन वर्सेस वुमेन का इश्यू नहीं है ये इश्यू यही है कि कानून गलत है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो ये प्रॉपर्टी शादी के टाइम ऑलरेडी हस्बैंड के पास थी उसमें वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वाइफ का हिस्सा हो तो सिर्फ ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ही होना चाहिए यानी कि जो प्रॉपर्टी शादी के बाद एक्यूमुलेट हुई है और उसमें भी यदि कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो भी लिमिटेड एप्लीकेशन होनी चाहिए अब इस, इसलिए ये एक प्योर जस्टिस का क्वेश्चन है तो मैं आप सारे एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत के अस्सी करोड़ नागरिकों को ये कन्विंस कराने की कोशिश करें कि वो एसएमएस से अपने एमपी को ऑर्डर भेजे कि ये जो डिवोर्स के से रिलेटेड कानून आ रहा है उस पर वो नो वोटिंग करें आपको एमपी के मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएंगे यदि किसी एमपी का नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट नहीं है तो उसी की पार्टी के बाजू के एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो और उसको बोलो कि भाई आप फला फला एमपी को ये ऑर्डर फॉरवर्ड कर देना जैसे कि अडवाणी ने अपना मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पे नहीं रखा अडवाणी जी ने तो आप उन्हीं के पार्टी के एक दूसरे सांसद है हरिन भाई पाठक जी वो उनके पास की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी है तो आप एसएमएस यदि आप अडवाणी की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो आप हरिन पाठक जी को एसएमएस करो कि पाठक जी ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऑर्डर आप अडवाणी जी को फॉरवर्ड कर दो और नीचे लिखो कि भाई मैं सो एंड सो अडवाणी जी आपकी कंस्टिट्यूएंसी का वोटर हूं मैं आपको एसएमएस से ये ऑर्डर देता हूं कि आप ये जो कानून आ रहा है पार्लियामेंट में उस पर ना रजिस्टर करो और इस तरह से यदि बड़ी संख्या में वोटर यदि ना रजिस्टर एसएमएस भेजते हैं तो हो सकता है ये कानून पास ना हो धन्यवाद